ज्ञान की विधि इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है कृपया बताएंगे मेरी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही है ठीक तरह से ठीक नहीं आ रही है आप कृपया बताएं अभी ठीक है कक्षा का प्रारंभ करें उससे पूर्व दो मिनट के लिए परम पिता परमात्मा का स्मरण करेंगे प्रारंभ एक बार मैं ओम बोलूंगा और दो मिनट बाद में पुनः ओम बोलूंगा तब तक अंतर्मुखी होके प्रभु का स्मरण करें अथवा अंदर अपना निरीक्षण करें आंखें खोल लीजिए ध्यान और संध्या के इस शिविर में ये कक्षा ध्यान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों को बताने के लिए रखी गई है उन बातों को बताने के साथ साथ उनका कुछ अभ्यास भी आपको इस कक्षा में करवाया जाएगा ध्यान आप में से अधिकांश व्यक्ति करते रहे होंगे और भी बहुत लोग करते हैं हमारे ध्यान की गहराई कितनी है ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है करोड़ों अरबों लोग ध्यान करने वाले हैं किंतु उनकी गहराई अपने अपने अभ्यास और संस्कार के आधार पर भिन्न होती है और वो भिन्नता भी बहुत अधिक होती है हमें जिस मार्ग पर चलना है मुक्ति तक पहुंचना है ईश्वर को प्राप्त करना है अपने अंतकरण को पूर्ण शुद्ध बना लेना है समस्त संस्कारों को दग्धबीज कर देना है ये जो ऊंची स्थितियां हैं उसे पाने के लिए ध्यान भी ऊंचे स्तर का लगाना आवश्यक होता है और ध्यान यदि हमें ऊंचा करना है तो उसके लिए तैयारी भी सज्जा भी ऊंची करनी होती है उच्च शिखर को पाने के लिए छोटी छोटी बातों को बहुत महत्व से समझा जाता है देखा जाता है और किया जाता है जिसे ऊंचाई पर नहीं जाना है सामान्य स्तर पर रहना है जो सामान्य स्तर से ही संतुष्ट है उसका काम भी सामान्य सावधानी से सामान्य प्रयत्न से चल जाता है उदाहरण के लिए एक साइकिल चलाने वाला है जैसा कि सामान्यतया हम शहरों या गांवों में चलाते हैं जाना उसे भी है गति उसे भी करनी है और एक साइकिल चलाने वाला होता है विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में ओलंपिक्स में उसे भी साइकिल चलानी होती है उसे भी दूरी पार करनी होती है समय सबके पास में सीमित होता है शक्ति भी सबकी अपनी अपनी सीमित होती है लेकिन दोनों के व्यवहार में साइकिल चलाने के लिए जो सज्जा की जाती है उसमें बहुत अंतर होता है सामान्य व्यक्ति को इस बात से कुछ विशेष अंतर नहीं पड़ता कि मैंने साइकिल चलाते समय कैसे कपड़े पहने और लक्ष्य तक पहुंचने में उसे कोई भिन्नता भी दिखाई नहीं देती सामान्य व्यक्ति को बहुत अधिक चिंता नहीं होती कि इस साइकिल में तेल डला है या नहीं कभी डाल भी लेता है कभी वैसे भी चलता रहता है उसे ये चिंता नहीं होती कि मैं सीधे होकर के साइकिल चलाऊं या झुक करके चलाऊं साइकिल में हवा कितनी रखनी है ठीक तो रखता है ध्यान तो रखता है किंतु उतना ध्यान नहीं रखता है जितना ओलंपिक का चालक या चालिका रखते हैं वो हर चीज चाहे कपड़ा हो चाहे गाड़ी का भार हो बैठने की स्थिति हो पंजे को किस तरह से पैडल पे रखा जाए कब जोर दिया जाए कैसे मुड़ा जाए ब्रेक लगाए जाए न लगाए जाए इन सब छोटी छोटी बातों का वो ध्यान रखता है और उसके लिए ये छोटी बातें नहीं होती हैं बड़ी बातें होती हैं उसको यदि ये कह दिया जाए प्रतियोगिता वाले को कि आप ये कुर्ता पजामा या पैंट शर्ट पहन करके चलाइए आप उसको लाख रुपए दे दो उसी का नहीं करेगा दूसरा कहेगा एक लाख रुपए है ले लो क्या अंतर पड़ता है ये उसको पता है जो वहां प्रतियोगिता में भाग ले रहा है इससे क्या अंतर आता है इसी प्रकार यदि हम सामान्य स्तर का ध्यान करना चाहते हैं सामान्य स्तर पर चलना चाहते हैं तो बहुत अधिक सूक्ष्मता में जाने की आवश्यकता नहीं है काम चल ही रहा है चलता रहता है ऊंचा नीचा किंतु यदि हमारा लक्ष्य मानव जीवन को सफल बनाना है ईश्वर को पाना है और ध्यान की उन गहराइयों में जाना है जहां हमें अपने संस्कारों को क्षीण करना होता है संस्कारों पे काम करना होता है तो छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना होगा एक हड्डियों की शल्य क्रिया होती है एक हृदय की शल्य क्रिया होती है एक मस्तिष्क की शल्य क्रिया होती है ब्रेन सर्जरी होती है एक एक नर्व पे तंत्रिका तंत्र पे काम करना होता है छोटी सी भी भूल हो गई तो इधर उधर हो जाता है बहुत सावधानी बहुत स्थिरता बहुत एकाग्रता वहां चाहिए होती है यदि हमें संस्कारों को ठीक करना है तो उतनी ही सूक्ष्मता से एकाग्रता लानी पड़ेगी नहीं वो संभव नहीं है ट्रैक्टर में बैठे बैठे गांव में चलते चलते कोई ब्रेन सर्जरी नहीं कर सकता करेगा तो रोगी मारा जाएगा हानि हो जाएगी ओपन हार्ट सर्जरी हर कहीं चलते फिरते सड़क के किनारे नहीं की जा सकती उसके लिए स्थिति बनानी पड़ती है अनुकूलता बनानी होती है तब सफलता मिलेगी तो ध्यान के लिए सबसे पहला चरण आसन का होता है यदि आसन चलायमान है तो मन भी चलेगा ही और मन चल रहा है तो अंदर का कार्य सूक्ष्मता से गंभीरता से नहीं हो पाएगा बैठने का कार्य हम प्रतिदिन करते हैं बचपन से बैठते हैं छोटे मोटे काम हमारे बैठने से चलते ही हैं उपासना में एक विशेष आसन की आवश्यकता होती है जिसमें हम सुखपूर्वक और स्थिरता से बैठ सकें अपनी अपनी शारीरिक अनुकूलता से आप लोग अपना आसन चुन सकते हैं अलग अलग आसनों में प्रयोग करके देख लें जो आपको अनुकूल आता है बैठ करके कुर्सी के ऊपर घुटनों को किस तरह रखा है कैसे भी लेकिन सुखपूर्वक बैठ सकें और स्थिरता से बैठ सकें देर तक बैठ सकें जिसको जो अनुकूल हो वो किया जा सकता है सामान्यतः हम जैसे बैठते हैं इसमें भी कम से कम प्रयत्न जिस स्थिति में हो वो हमारे लिए अनुकूलतम होती है यदि एक बल्ली को खंबे को जमीन से उठाया जाए तो उठाते समय एक किनारे से उठाया जाए एक किनारा जमीन पर टिका हुआ है उस समय कितना बल लगता है धीरे धीरे धीरे धीरे उठाते जाते हैं और बिल्कुल बीच की स्थिति में ले आते हैं हमारे बल में लगने में न्यूनाधिकता होती ही है आप अनुभव करते होंगे प्रारंभ में सबसे अधिक लगता है जैसे जैसे वो बीच में आता जाता है बल कम लगता है इसी तरह से बीच में जिस समय है उसको रोके रखने में हमें सबसे कम बल लगता है क्योंकि वो भूमि पे टिका हुआ है अब थोड़ा सा उसको तिरछा कर दो तो अधिक बल लगेगा हो सकता है और अधिक तिरछा कर दें तो हम उसको रोक भी ना पाए वो गिर जाएगा इसी प्रकार से जिस समय हम बैठते हैं यदि हमारा शरीर सीधा है कूल्हे की जो दो हड्डियां पीछे जमीन पर टिकती हैं वो सीधे हैं रीढ़ की हड्डी सीधी है तो हमारे को हमारी मांसपेशियों को कम बल लगाना पड़ता है देर तक बैठे रहने पर भी पीड़ा नहीं होगी यदि मैं थोड़ा सा तिरछा करके ऐसे बैठा रहूं उस देर तो चलेगा लेकिन मैं चाहूं आधा घंटा एक घंटा ऐसे ही बैठा रहूं मेरे को पीड़ा होने लगेगी यदि मैं थोड़ा सा पीछे होकर के बैठूं आप भी अनुभव कीजिए थोड़ा सा पीछे होके बैठ जाइए थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद में जोर आने लगेगा थोड़ा सा आगे होकर के बैठ जाइए अधिक आगे ना थोड़ा सा अधिक आगे तो अपने को सबको पता लगता है थोड़ा थोड़ा सा भी हम बैठ के देखें थोड़ा आगे करेंगे अधिक देर बैठे रहेंगे तो घुटनों पे अधिक जोर आ जाएगा दर्द करने लग जाएंगे इसकी जगह यदि सीधे बैठे हैं तो घुटनों पे कम भार आएगा पीठ का दर्द नहीं होगा कम होगा ये बैठने में विशेष ध्यान रखना है यदि हमारे को पता नहीं लगता है इसका तो उपासना के समय थोड़ा सा पीछे जाके देखिए अभी भी आप कर लीजिए थोड़ा सा आगे देखिए मन को शरीर पे केंद्रित रखिए अंदर ही अंदर वैसे केंद्रित नहीं रख पा रहे हो तो आंख बंद करके कर लीजिए अगल बगल में जाके देखिए और अनुभव कीजिए शरीर में कहा भार बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है कहाँ खिंचाव आ रहा है बल कितना लग रहा है आपको बीच में एक स्थिति ऐसी प्रतीत होगी जहां सबसे कम बल लग रहा है वो आपके लिए आदर्श स्थिति है उसमें हम बैठ जाए कंधे बहुत खींच के रखने की आवश्यकता नहीं है न तो झुका के रखना है यदि झुका के रखेंगे तो फेफड़े भी कम काम करेंगे और पेट भी कम काम करेगा झुक जाएंगे झुक के बैठेंगे तब भी कम काम करेगा और सीधे बैठने का चूंकि हमने सुन रखा है इसलिए हम बहुत सीधे बैठ जाएंगे जैसे मैं अभी बैठा हूं अधिक देर नहीं बैठ पाएंगे खिंचाव की स्थिति है आसन का लक्षण महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम और उसके लिए उपाय बताया प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति जितना प्रयत्न शरीर को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है उतना करते हुए बाकी सारा शिथिल कर दे हाथ को ये रखने की आवश्यकता नहीं है उपासना के लिए हाथ को रख लिया प्रयत्न शिथिल कर दिया हाथ रखा है अपनी जगह पैरों को बांध लिया स्थिर कर लिया अब जांघों को ढीला छोड़ दिया पिंडलियों को ढीला छोड़ दिया कूलों को ढीला छोड़ दिया उसकी कोई आवश्यकता नहीं है खिंचाव की कंधे भी सहज स्थिति में रहे तीसरी बात आती है गर्दन की सीधे बैठने में प्राय अधिक जागरूकता के लिए ऐसे व्यक्ति कर लेता हैं गर्दन में दर्द हो सकता है खिंचाव आएगा अधिक देर नहीं रह सकते हमारी रीढ़ की हड्डी डंडे की तरह सीधी नहीं है उस तरह करना अस्वाभाविक है सीधे बैठना है गर्दन थोड़ी सी आगे रहती है आगे झुकना भी नहीं है किंतु इस सीधे की अपेक्षा थोड़ा सा आप आगे रखेंगे आपको अधिक सहज लगेगा मुख के अंदर दांतों को भींच के नहीं रखना है या तो एक के ऊपर एक सहजता से टिके होंगे या ढीला छोड़ने पे थोड़े से ऊपर उठ जाएंगे आपके दूर दूर आएंगे थोड़े थोड़े से जिह्वा भी आपकी बस सहज बीच में रहेगी गाल आदि आंखें सहजता से रहेंगी ध्यान करते करते जब व्यक्ति एकाग्रता का प्रयास करता है को जो कि उसे करना होता है प्रयास अंदर करता है लेकिन शरीर पे उसका प्रभाव आ जाता है जिसका कि उसको उस समय अनुभव नहीं होता है वो अंदर काम कर रहा होता है किंतु देर तक करते करते फिर वो कहते हैं मेरे सिर में दर्द होने लग गया मेरी आंखों में दर्द होने लग गया सिर में भारीपन आ गया तो शरीर का भी ध्यान रखना है अंदर एकाग्रता का प्रयास करते करते यहां खिंचाव ना आ जाए ऊपर हम ज्यादा खींचने ना लग जाए अंदर की तरफ ना खींच लें आंखों को ना खींच लें प्रारंभ में अभ्यास करना है बाद में आदत हो जाती है ढीला रखें उसको इसी तरह से ललाट की मांसपेशियां भी हमको पता नहीं लगता लेकिन हम खींच के रख लेते हैं ध्यान करते समय भी थोड़ा तनाव आता है व्यक्ति अपने को रोकना चाहता है एक तरह का संघर्ष चल रहा होता है प्रारंभ में इधर से रोका उधर से रोका इधर लगाया जिस तरह किसी तनाव के समय मस्तिष्क और ये मांसपेशियां खिंच जाती हैं ऐसे ध्यान के समय भी ये मांसपेशियां कुछ खिंच जाती हैं इसको हमें शिथिल रखना है यदि ये खींची तो ध्यान का काल कम रहेगा उठना पड़ेगा बाधा होगी ध्यान से अरुचि होने लग जाएगी क्योंकि ध्यान का संबंध हमारे सिर के भारी होने में और सिर के दर्द के साथ में जुड़ जाएगा बार बार बार बार करने से तो ये लगेगा ध्यान करने से सिर दर्द होता है स्वतः अरुचि होने लग जाएगी इसको भी शिथिल रखना है तो अपने पूरे शरीर को हमें ध्यान के समय स्थिर करना होता है स्थिरता के साथ साथ उसे शिथिल भी रखना होता है इस ऐसी स्थिति बन जाए कि जब हम ध्यान में बैठे तो शरीर की तरफ से हम निश्चिंत हो जाए शरीर बैठा है शरीर को हमने स्थिर कर दिया ठीक है बैठा है एक तरफ काम तो अंदर चलना है हमारा यदि किसी को फोड़ा हो गया हो और कोई गंभीर काम कर रहा हो नहीं कर पाता है बार बार उस फोड़े पे दर्द पे कांटे पे बार बार वहां ध्यान जाता है बार बार वहां ध्यान जाता है और यदि शरीर स्वस्थ है कोई दिक्कत नहीं है तो शरीर को भूल करके हम संसार के काम भी करते हैं शरीर का कोई भान नहीं रहता और जो रुचि होती है उस कार्य को करते रहते हैं लेकिन चूंकि ध्यान में अभी हमारी पूरी रुचि नहीं हुई है इसलिए शरीर की थोड़ी बाधा भी हमारे ध्यान में बाधा डालती है इसलिए शरीर को स्वस्थ स्थिर बना करके धीरे धीरे अभ्यास से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा दो घंटा समय बढ़ता जाता है यहां उपासना के काल में आप सभी प्रयास करें प्रारंभ में बिल्कुल स्थिर बैठ जाएं जितनी देर आप अधिक बैठ सकते हैं बैठें अगर कुछ बाधा हो रही है तो क्या करें एक तो यही है कि शरीर को स्थिर रखना है इसलिए स्थिर बनाए रखें क्योंकि शरीर को हिलाया तो ध्यान टूट जाएगा और दूसरी स्थिति ये सोचना है कि शरीर तो मैंने स्थिर कर लिया है लेकिन पीड़ा इतनी तेज हो रही है कि अंदर का ध्यान ईश्वर की भक्ति एकाग्रता वो तो समाप्त हो रही है वो तो चल ही नहीं पा रही है तो शरीर की स्थिरता साधन है अंदर का कार्य साध्य है हमारा वो करना है तो यदि शरीर अधिक बाधा करने लगे और ध्यान में बाधा करे ध्यान में बाधा होने लग जाए तो अच्छा है थोड़ी देर ध्यान रोक करके कुछ क्षण रुक करके आसन परिवर्तित कर लें पैर खोल लें यदि बहुत आवश्यक है तो दो तीन मिनट घूम करके टहल करके फिर बैठ जाए फिर अच्छी तरह से कर लें दस पंद्रह मिनट ध्यान आधा घंटा ध्यान फिर थोड़ा सा टहल लें फिर कर लें तो शरीर की स्थिरता रखनी है पीड़ा रहित स्थिति रखनी है किंतु प्रधानता सदैव ध्यान की रहेगी इसको अपने अपनी अनुकूलता से आप लोग अभ्यास को बढ़ाते चले जाएं यहां भी और घर पर दो तीन मिनट के लिए आप लोग सीधे बैठें जो मैंने आपके सामने स्थिति वर्णित की आंखें बंद कर लें और अपने लिए अनुकूल स्थिति का परीक्षण स्वयं करें कहा सबसे सरल और सहज स्थिति आप अपने लिए पा रहे हैं इस काल में थोड़ा परीक्षण करना हो अपना अपना परीक्षण कर लें ये हिलना डुलना हो ये परीक्षण के लिए है फिर स्थिर हो जाए केवल शरीर का निरीक्षण जो स्थिति आपको अनुकूल लग रही है उसे स्मरण और जब भी उपासना में बैठे पहले उस स्थिति में आ जाए उस स्थिति में आने के लिए चाहे एक मिनट लगे दो मिनट लगे पांच मिनट लगे अथवा पांच सेकंड में आपको वो स्थिति आ जाती है कितना भी लगे लेकिन उस स्थिति को तैयार कर लें अपनी अपनी स्थिति की पहचान कर लें आंखें खोल लीजिए हाथ की स्थिति वो भी आप अपनी अनुकूलता से रख सकते हैं घुटनों पर भी आराम से रखा जा सकता है यदि किसी को इससे घुटनों पर भार लगता हो तो पीछे रख सकते हैं कोई बात नहीं है हथेलियों को आप ऊपर रखना चाहें ऊपर रख लें मोड़ के रखना चाहें मोड़ के रख लें लेकिन उंगलियों और सब में शिथिलता आ जाए यहां रखा है तो ये शिथिल ऐसे रखा है तो विशित है यदि आप गोदी में रखना चाहते हैं बाया हाथ नीचे दाया हाथ ऊपर ये भी रख सकते हैं ढीला छोड़ दें फिर इसको रख के ढीला छोड़ दें रखा है जहां स्थिति आपको अनुकूल लगती है कहीं थोड़ा तिरछा लगेगा कहीं कुछ आगे पीछे आपको पता लग जाएगा ये स्थान मेरे लिए स्थिर है बिल्कुल देर तक मैं रुक सकता हूँ उस जगह छोड़ दें तो ध्यान की विधि में प्रारंभिक बिंदु आसन का आपके सामने रखा दूसरा बिंदु जो कि प्रारंभ में ही समझ लेना आवश्यक है वो है धारणा आसनों के बाद में प्राणायाम का विषय आता है फिर प्रत्याहार का विषय आता है और फिर धारणा आती है योग के आठ अंगों में प्रथम पांच अंग बहिरंग कहलाते हैं यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग में से एक चीज आपके सामने रखी आसन के प्राणायाम के बारे में और बता दिया जाएगा और प्रातःकाल जो यतेंद्र जी आपको कराते हैं वहां भी वो प्राणायाम के बारे में बताएंगे प्रत्याहार के बारे में आगे किसी दिन बात को रखूंगा लेकिन अभी चूंकि प्रातःकाल सायकाल आपको धारणा शब्द बोला जा रहा है और हमें ध्यान भी करना है तो अंतरंग का पहला अंग धारणा भी हमें ज्ञात होना चाहिए धारणा का अर्थ है मन को शरीर के किसी एक स्थान पर टिका देना एक स्थान पर बांध देना वो स्थान कई हो सकते हैं कुछ स्थान मैं बोलता हूं जैसे नाभि प्रदेश हृदय प्रदेश कंठ प्रदेश जिह्वा का अग्रभाग जीप का आगे का भाग नासिका का अग्रभाग नासिकाग्र भ्रू मध्य दोनों भौहों के बीच का भाग भ्रू मध्य का ललाट के बीच का भाग ये ललाट है इसके बीच का भाग यहां भी हो सकता है और यहां ऊपर भी हो सकता है अन्य भी स्थान हो सकते हैं उस स्थान पर मन को अंदर ही अंदर टिका देना मन उस स्थान पर कैसे टिके उसके लिए उस स्थान की संवेदनाओं को अनुभूतियों को देखने लगते हैं अनुभव करते हैं जैसे पैर में कभी कांटा चुक जाए कंकर चुक जाए या कहीं कोई मच्छर काट जाए तो तत्काल मन कहा जाता है उस स्थान पर और यदि तीव्र पीड़ा है तो मन और कहीं नहीं जाएगा शरीर में वहीं रहेगा तो ये तो तीव्र स्थिति में है लेकिन सामान्य स्थिति में भी मन किसी एक स्थान पर टिक जाए उसके लिए उस अनुभूति का होना आवश्यक है धारणा का एक प्रचलित अर्थ जैसा लोग करने लग जाते हैं वो उस स्थान के बारे में विचार करने लगते हैं वो विचार किस रूप में जैसे भ्रिकुटी में यदि वो धारणा कर रहे हैं तो भ्रिकुटी का चित्र वो अपने अंदर ले आते हैं सामने से भ्रिकुटी कैसी दिखती है अपनी भ्रिकुटी कभी दर्पण में हमने देखी है तो उस भ्रिकुटी के चित्र को मन में ले आते हैं ललाट मध्य का या हृदय प्रदेश कंठ प्रदेश जो भी धारणा का स्थल है जब उनको ये बताया जाता है मन को एक स्थान पर टिकाइए एक धारणा स्थल पर टिकाइए तो वो उसका चित्र वहां पर देखने लग जाता है ये धारणा नहीं है इसको तो हम यदि चिंतन ध्यान के अंदर लें तो ठीक है धारणा में उस स्थान पे अंदर ही अंदर मन को टिकाना होता है आंखें बंद हैं हमारी और मन को अंदर ही अंदर उस स्थान की अनुभूति पर लगाते हैं तो मन वहीं टिक जाता है अब सामान्यतया हमारे को उन अंगों में धारणा स्थलों में कोई संवेदना नहीं होती है या कम होती है वो संवेदना हमें पकड़नी होती है और वो थोड़े से अभ्यास से पकड़ में आने लगती है यदि आप अपने अपनी उंगली को यहां बीच में रखें आपने आंख बंद रखी है कोई आपकी यहां आके उंगली को रखता है थोड़ा सा स्पर्श करता है तो आपका मन वहां जाएगा मन उसी जगह जाके टिकेगा और उस समय हम कुछ स्पर्श का अनुभव कर रहे होंगे यहां आप लोग लगाइए अपना हाथ चाहे तो आंखें बंद कर लीजिए अच्छा है अब आपका मन वहां टिका है अंदर से कितना दाब है कितना स्पर्श है अब हाथ को धीरे से हटा लीजिए मन को वहीं रखिएगा क्या वहां कोई अनुभूति हो रही है देखिए थोड़ी देर देखते रहिए वो स्पर्श जो उंगली का था वो अब उतना ही है या धीरे धीरे कम हो रहा है क्या अब भी वो अनुभूति है वही अनुभूति या अन्य कोई अनुभूति देखने का प्रयास कीजिए आंखें खोल लीजिए हाथ की अनुभूति सबको होगी उंगली की और अंगुली के हटने के बाद भी कुछ देर तक वही अनुभूति होती रहती है थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है लेकिन और अंगुली के स्पर्श की अनुभूति समाप्त होने पर भी यदि हम वहां अच्छी तरह एकाग्र हैं तो कुछ अनुभूति होने लगती है इस शरीर में रक्त संचार सतत हो रहा है संवेदनाएं सतत हैं स्पर्श इंद्रिय विद्यमान है वो वायु का भी स्पर्श कर रही है शीत और उष्ण का भी स्पर्श कर रही है कोशिकाओं में सैकड़ों गतिविधियां हो रही हैं आणविक स्तर पर अंदर बहुत क्रियाएं हो रही हैं पोषण आ रहा है ऊर्जा बन रही है मल निष्काशन हो रहा है नई कोशिकाएं बन रही हैं बहुत बहुत गतिविधियां हो रही हैं सामान्यतः हम उनको अनुभव नहीं कर लेकिन जैसे जैसे धारणा करने लगते हैं वहां की अंदर की गतिविधियां हमको अनुभव होने लगती है एकाग्रता यदि अधिक हो गई धारणा का अभ्यास अच्छा हो गया तो उस स्थान पर बहुत तेज संवेदनाएं भी होने लगेंगी बहुत तेज तरंगे जैसी लगने लगेंगी तेज सरसराहट जैसी लगने लगेगी जैसे बड़े नाले में पानी बह रहा हो घड़घड़ करके तेजी से ऐसा यहाँ छोटी छोटी नलियों में जो रक्त बह रहा है वो अनुभव में आने लगेगा हृदय की धड़कन हम सब थोड़ी थोड़ी अनुभव करते हैं किंतु अन्य जगह भी वो धड़कन विद्यमान है रक्त तो जा रहा है हम अनुभव नहीं करते थोड़ा थोड़ा अनुभव करने से धारणा स्थल की अनुभूति आपको बहुत सहज हो जाएगी अंदर से उस स्थल को कुछ देर के लिए देखना ऐसा देखने से मन का उस स्थान पर टिक जाना ये धारणा साधकों के मन में प्रश्न होता है कि किस स्थान पर धारणा लगाई जाए तो बहुत सारे स्थान बता दिए कभी भी कहीं लगाएं अथवा एक स्थान पर लगाएं इनमें से कौन सा स्थान सबसे अच्छा है जहां लगाएं बहुत सारे प्रश्न रहते हैं साधकों को किसी स्थान पर समस्या भी होने लगती है किसी को सिर दर्द होने लगता है सिर भारी हो जाता है किसी को हृदय की धारणा से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है बेचैनी हो जाती है किसी को नाभि पे धारणा करने पे पेट में बेचैनी लगने लगती है अजीब सा लगने लगता है हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है ये प्रत्येक साधक को अपना धारणा स्थल अनुभव करके निर्धारित करना होता है जो पुराने साधक हैं जिनके धारणा स्थल निश्चित हो चुके हैं वो कर सकते हैं और अधिक परिपक्व साधक होते हैं वो किसी भी स्थान पर धारणा लगा लेते हैं सब जगह कुशलता से लगा लेते हैं उनके लिए स्थान से कोई अंतर नहीं पड़ता किंतु प्रारंभिक व्यक्ति को बहुत अंतर पड़ता है यदि कम अनुकूल स्थान पर धारणा लगाई तो वो टिक नहीं पाती है वहां पर अधिक देर नहीं चल पाता है इसलिए प्रारंभिक साधक को सभी धारणा स्थलों पर थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक करके अपना अपना अनुभव ले लेना चाहिए किस स्थान पर मुझे सबसे अधिक अनुकूलता है तुलनात्मक अध्ययन कर लें कहा मैं अधिक देर रह सकता हूं कहा मुझे अधिक अच्छा लगता है कहा शांति लगती है ये अनुभव करने होते हैं अभी दो दो मिनट के लिए आपको धारणा स्थल के अनुभव करने मैं आठ धारणा स्थलों को बोलूंगा एक एक करके नीचे से धारणा की प्रक्रिया मैंने आपके सामने रखी है मन को उस स्थान पर ले जाके वहां की संवेदनाओं को पकड़ने का प्रयास करें सहजता से किसी संवेदना की कल्पना नहीं करनी है जबरदस्ती नहीं थोपना है जो हो रहा है आपको दबाव अनुभव हो सकता है हल्कापन लग सकता है ठंडापन लग सकता है गर्मी लग सकती है स्पंदन हो सकता है तरंगे लग सकती है स्फुरन हो सकता है कुछ भी होता हो तो अपने अपने आसन की स्थिति बना लीजिए नेत्रों को बंद कर लीजिए सर्वप्रथम नाभि पर धारणा लगाए नाभि की संवेदनाओं को एकाग्रता से शांत होकर पकड़ने का प्रयास करें नाभि का श्वास के साथ आगे पीछे होना ये भी एक स्थूल संवेदना है जो सभी पकड़ सकते हैं अन्य संवेदनाओं को भी पकड़ने का प्रयास करें धारणा अब कुछ क्षण के लिए वहां देखें आपको कैसा अनुभव हो रहा है मानसिक रूप से वहां आपको अच्छा बुरा कैसा लग रहा है अनुकूलता प्रतिकूलता अथवा कुछ भी न अनुकूलता न प्रतिकूलता जैसा भी लग रहा है उसे देखें देखेंगे दूसरी धारणा हृदय प्रदेश पर दोनों स्तनों के बीच में छाती की हड्डी जहां समाप्त होती है मध्य में जहां थोड़ा गड्ढा है गर्त है वहां पर मन को अंदर ही अंदर पहुंचा दें वहां होने वाली संवेदनाओं को पकड़ने का प्रयास करें जागरूकता से देखें की अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता को देखें अच्छा बुरा कैसा लग रहा है आप रुकेंगे मन को कंठ प्रदेश पर ले आए कंठ प्रदेश में होने वाली अनुभूति संवेदनाओं को पकड़ें मन को अंदर ही अंदर <clears throat> कंठ प्रदेश पर केंद्रित करें कंठ प्रदेश पर कैसा लग रहा है अच्छा बुरा अनुकूलता प्रतिकूलता इसे देखें एकाग्रता यहां कितनी बन रही है इसे देखें अगली धारणा मन को जिह्वा के अग्रभाग पर केंद्रित करें जिह्वा को मुख में अधर धीरे से रखी हुई अथवा मध्य में कहीं टिकी न हो बीच में रखते हुए अग्रभाग पर मन को ले जाएं जिह्वा के अग्र भाग पर होने वाली संवेदनाएं देखें जिह्वा को हिलाना डुलाना नहीं है बिल्कुल स्थिर करके केवल संवेदनाएं देखें जिह्वाग्र पर अनुकूलता प्रतिकूलता देखें एकाग्रता की स्थिति देखें अगली धारणा भ्रू मध्य में मन को ले जाएं, अंदर ही अंदर वहां तक पहुंचे दोनों भवों के बीच में नासिका के मूल स्थान पर संवेदनाओं को पकड़ें अनुकूलता प्रतिकूलता देखें एकाग्रता की स्थिति देखें अगली धारणा ललाट का मध्य भाग मन को अंदर से वहां तक पहुंचाकर संवेदनाएं देखें पकड़ें अनुकूलता प्रतिकूलता एकाग्रता की स्थिति अगली धारणा मन को शीर्ष स्थान पर सबसे ऊपर के भाग पर केंद्रित करें संवेदनाएं पकड़ें अनुकूलता प्रतिकूलता एकाग्रता की स्थिति धीरे से आंखें खोल लीजिए धारणा की प्रक्रिया का आपको थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ होगा किसी को स्थानों का निर्धारण इतने कम समय में होना कठिन होता है दो दो मिनट जो आपको अनुभव कराया गया ये केवल उसकी झलक है प्रक्रिया का आपको आभास हो ये कैसे किया जाता है इतने मात्र से आप एकदम निश्चित अपने अनुकूल धारणा स्थल को नहीं पकड़ पाएंगे लेकिन है यही प्रक्रिया अब इसके लिए अपने अनुकूलतम धारणा स्थल को चुनने के लिए आप उपासना काल में भिन्न भिन्न धारणाएं करके देख सकते हैं जब आपको उपासना कराई जाएगी उस समय भी आप अपनी अनुकूलता से एक एक स्थान को चुन सकते हैं प्रतिदिन एक दिन पूरे एक घंटे एक समय पूरे एक घंटे उसमें जितना भी समय धारणा का मिलता है वो एक ही स्थान पर रखें अगले समय दूसरा स्थान अगले समय तीसरा स्थान इत्यादि आप प्रयोग कर सकते हैं अथवा आप घर पे जाएंगे वहां भी ये प्रयोग कर सकते हैं दो दिन पांच दिन किसी एक धारणा स्थल पे ही केंद्रित होकर के ध्यान उपासना करेंगे फिर कुछ दिन बदल के देखेंगे एक में बाधा आती है तो बदल के दूसरा देख लेंगे इस प्रकार से जो अनुकूलतम धारणा स्थल आपको प्रतीत हो जिसमें आपको कोई बाधा ना होती हो पीड़ा ना होती हो उसका चयन कर लेना चाहिए इसे ऐसा ना समझा जाए कि ध्यान उपासना काल में यदि मैं इन पर अधिक ध्यान दूंगा धारणा स्थल पर केंद्रित होऊंगा तो ईश्वर की भक्ति ध्यान आदि तो कम हो पाएगा प्रारंभ में कम होगा लेकिन यदि आपने धारणा के विषय में अनुकूल स्थान को चुन लिया सफल हो गए आप तो धारणा चुनने के लिए जो समय लगाया गया है वो आपको व्यर्थ नहीं लगेगा वो बहुत अनुकूल लगेगा बहुत सारे साधक जो तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं भावना भी होती है लेकिन बाधाएं आती रहती हैं उनमें एक कारण ठीक धारणा धारणा स्थल का न चुना जाना भी है तो यदि आप उसका चयन कर लेते हैं कुछ समय लगा के कुछ घंटे लगा करके तो इस काल में भी संसार से तो हम हटते ही हैं एकाग्र तो होते ही हैं आसन तो हमने लगा ही रखा है इन सब के तो लाभ होंगे ही और धारणा का चयन हो जाना चुन लिया जाना ये एक अच्छी सफलता है और जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा फिर धारणा स्थल पे मन को टिकाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं होगी किसी को संवेदनाएं पकड़ने में मन को वहां टिकाने में पांच मिनट दस मिनट लग सकते हैं पंद्रह मिनट लग सकते हैं अभ्यास होने पे वो दो मिनट में एक मिनट में आधे मिनट में पांच सेकंड में भी हो जाएगा जैसे ही धारणा लगाई लग गई और ध्यान प्रारंभ हो गया धारणा में कोई समय नहीं जाएगा बहुत कम समय लेकिन इसके लाभ बहुत हैं जब जब भी हमारा मन उपासना में ध्यान में इधर उधर भटकता है जाता है फिर हम जब पूर्ववत ध्यान करना चाहते हैं सीधे ध्यान पे सीधे विचारणीय बिंदु पे आए तो वो कुछ कठिन होता है अभ्यासी वो भी कर लेते हैं वो भी सरल हो जाता है लेकिन प्रारंभ में अन्य विषयों में जब मन जाता है तो पहले धारणा स्थल पर ले आए और फिर वापस अपना जो ध्यान चल रहा है उसे प्रारंभ कर दें ये धारणा स्थल हमें आधार प्रदान करता है ध्यान के लिए भूमिका प्रदान करता है दृढ़ता प्रदान करता है तो इसका उपासना काल में बीच बीच में उपयोग करते रहना है मैं भी प्रारंभ में कई बार आपको ये स्मरण कराता रहूंगा उपासना काल में ध्यान में संध्या के समय ये जो प्रक्रिया आपको अभी समझाई गई उसके अनुसार आप वहां मन को ले आए यदि मन वहां टिका है तो कोई बात नहीं चलने दीजिए बहुत अच्छी बात है लेकिन मन चला गया है तो फिर से वापस वहीं ले आइए फिर से वापस वहीं ले जाइए और फिर ध्यान प्रारंभ कर दीजिए ये प्रक्रिया आपको करनी है तो ध्यान की विधि में आज आसन और धारणा इसके बारे में आपके सामने कुछ बातें रखी फिर भी किसी को इन विषयों में कोई प्रश्न रह रहा हो कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो तो उसको कागज पर लिख करके डब्बे में डाल देंगे मैं यथासंभव अगली ही कक्षा में उन विषयों का स्पष्टीकरण आपके सामने रख दूंगा कोई समस्या हुई जो समाधान हो सकता है मेरी दृष्टि में वो आपके सामने रखूंगा अभी इस कक्षा को हम समाप्ति की ओर लेते हैं दो मिनट के लिए फिर से प्रभु का स्मरण करेंगे सीधे बैठ के नेत्रों को बंद कर लें इस भावना के साथ प्रभु का स्मरण करेंगे कि हे प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए जो साधन उपाय हो सकते हैं उन्हें जानने करने के प्रयास में मैंने ये अपना समय लगाया है आप मुझ पर कृपा करें मैं इस मार्ग पर और आगे बढ़ता जाऊं Oh. दृष्टि को नीचे रखते हुए पूर्ण मौन को रखते हुए अंतर्मुखी होते हुए धीरे से उठ करके अभी पंद्रह मिनट आपके पास में है थोड़ा टहल लीजिए लघु शंका जल आदि ले लीजिए लघु शंका त्याग कर लीजिए और कक्षा के दो मिनट पहले पुनः यहीं उपस्थित हो जाइए